प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है कहाँ है कैसे मिलता है किसने देखा है ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर उसके साथ भी ऐसा ही किया तीनों आ जाए आकर के नो बोले ब्रह्मा कहने लगा कि माई में आ गया कि बेटा तन दर्शन हुए पिता के अकहा हो गए किसने देखा अकियात खड़ी जो जिसका नाम बड़ी लड़की का उसका नाम है गायत्री गायत्री ने पूछो गायत्री ने बोली ठीक है जी मैंने देखा कि और गवा दो अकीस ने पोपवती ने पूछ लो इस वो दूसरी का नाम पोपवती था वह बोली ठीक है तुमने दर्शन हुए कहा हुए देखा अपनी आख्या का अपनी आख्या देखा ब्रह्मा चौड़ा हो गया सब लाग गया तो तो माता ने समाधि लगाई और अब अर्ज करी कि आप तक वो थे मैं दर्शन नहीं दूंगा आप झूठे लिकड़े मेरे बस का ना तरह खेल चलाना कहते एक बात पर डट ने बोला ये झूठ बोलना तीनों के तीनों मन कति दर्शन नहीं दी अब थानेदार पहले पूछा करा क्यों भाई चोरी करी ना जी कति भी ना करी और फिर वो तसली कर लेगा ना जी पक्के चोर से जब उनका लेकर लठने को बोल चोरी करी कहा जी करी उस जब जान जाएगा जान रहा है तेरी शायद भी क्यों अनुवाई पहले हाँ भर ले तो इस प्रकार जब करड़ी हो कहने बोली रे उल्लू के पठ्यो साची बताओ तुम्हें दर्शन नहीं हुए ब्रह्मा काट क्या अको ना हुए जुतिया भी झूठ बोलो थी काम भी झूठ बोला थी तो तीनों को श्राप दिया ब्रह्मा को श्राप दिया तेरी पूजा जग में नहीं होगी आज देख लो ब्रह्मा की कितना जकर नहीं चलता ना कोई मंदिर है और तेरे अनुयायी पंडित होंगे सारे पाखंडी होंगे और तेरे केसे होंगे झूठे कपट्टी मेरे लवार इस बात ने सुनकर ब्रह्मा जोश है विद्वान होना ना पाखंडी हुआ ना विद्वान को जाति से नहीं है जो विद्वान हो जाएगा उसमें सवत पाखंड भरेगा अवस्तु नहीं होती उसके पास तो जी बेहोश हो जाता है जब बेहोश हो गया तो विष्णु जी आता है नोबेला भाई चिंता ना कर मेरे जो वंशज होंगे तेरी मदद करा करेंगे और तेरे अनुयायी वंशजों की जो है मदद करेंगे इनकी पूजा करवा दूंगा मैं अब ठीक से तो फिर क्या हुआ विष्णु का नंबर आया अक भाई माता बोली कि विष्णु तो भी भाई अपने पिता ने ढूंढ लेके दे काल ने का मैं भी ढूंढूंगा पहला तुम ये फैसला कर लो विष्णु घूमता घूमता चला जाता है शेष नाग के लोक को ये शेष नाग भी उसी समय उत्पन्न हो गया था तो वहां जाते हैं तो शेष नाग के पास जब विष्णु जी जाते हैं तो उसने फुंकारा मारा उसके जहर के हुंकारे से विष्णु का शरीर काला हो गया सांवरा हो गया फिर क्रोध करके उसको मारण खातर चाला तो ऊपर आकाशवाणी नरेंद्र ने करी कि अब मत मार इसका बदला तो द्वापर युग में ले लिए कृष्ण रूप में जाएगा और इसका अवतार वहां पर कालीदय में होगा जब मारी शांत हो गया और जाकर अपनी माँ ने साथी साथी बता दे झूठ ना बोलिए आकर उस पहुंच गया उसकी माँ बोली रे देखा अपने पिता ने अगना मुझे दर्शन नहीं हुए मां ठीक सा बेटा शाबाश तने सत बोली है अल्लाह मैं तेरे को तेरे पिता के दर्शन कराती हूँ बैठ समाधि में अपनी शक्ति से न बोली ऊपर ने देख सहसरार कमल में एक जलमल जलमल जो झालर होती और उसमें ये जगमग जगमग हो रही है ये तेरे पिता के दर्शन से ये प्रकाश में है ये ब्रह्म रूप से और यही भगवान से इसके दर्शन करके उसमें बहुत शक्ति हुई शांति हुई और सतोगणी राज उसका नाम दे दिया कि तू सारी सृष्टि का पालक होगा इस ब्रह्मा ब्रह्मंड का और तेरे सबसे ज्यादा पूजा होया करेगी फिर शंकर जी बुलाए जो सब तो छोटे थे तीसरे नंबर के शंकर जी ने बोला कि बोली के बेटा तू भी अपने पिता ने ढूंढ ले माँ बात सहनो ना तो मन पिता चाहिए मन न्यू बता दे मैं अमर हो सकता हूं कि नहीं तक ना बेटा अमर होने की दवाई मारे दौरा नहीं सह हाँ उम्र बढ़ा सकता है चारों युग में अपनी काया रख सकता है और घनता ही रख सकता है इसी विधि बता दूंगी अब चल वाय बता दे कि योग विधि बताऊं सो ज्यादातर योग समाधि में रहना सांस कम लेना तेरी उम्र बढ़ जाएगी हम प्राणायाम करते हैं सांस रोकने की विधि करते हैं तप और उम्र बढ़ जाती है मुक्ति नहीं हो सकती जब ब्रह्मा विष्णु महेश की मुक्ति नहीं हो सकती तो ये तीन घंटे बैठनी है कि बताएंगे भाई ये विचार कर रही हो क्योंकि फिर क्या हुआ इनसे ये सब जीव उत्पन्न हुए और इनका एक पाड़ी तो सह बनावनिया ब्रह्मा हमारे को बनाता है और विष्णु जी पालन पोषण करता है शंकर जी हमें मार देता है और ये आप कई बार पर सुन चुके हो कि तीनों भगवाना के ये गुण हैं कि ब्रह्मा बनावे विष्णु विष्णु जी करें प्रतिपाला प्रतिपाल और शंकर भगवान हमें संहार करता है हमने सब जानकारी हिंदुआ तकरीबन दो ज्ञान है थोड़ा बहुत जो कहेंगे इन तीन भगवाना की तीन ड्यूटी से और हम फिर भी नन परमात्मा समझे एक बना दे एक मार दे और एक पाल रहा है इनकी मजबूरी है बेचारों की कि इनके पिता को तीन एक लाख जीव रोज खाने होते हैं और उसके लिए इन यह सृष्टि इतनी वर्दी के छकले खा खा गए इतनी बना दी इब हमने दस मण की ऊंचाई है जब भी बीस किला बोवांगे बीस मण की ऊंचाई है तो बीस किला बो जाएंगे फालतू पड़े रहेंगे कि मैं बेच देंगे कि मैं नू कर देंगे है? यही व्यक्ति निरंजन से शुरू हुई थी आज हमारे अंदर भरी पड़ी है अब कहते हैं कि निरंजन अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन उसकी डार तीनों देवा शाखा है भाई पात रूप संसार अब या सारे पुराण और सारे वेद और शास्त्र सुलझते जा रहे हैं जब विश्वास करोगे तो कि अक्षर पुरुष अभी आपको दिखाएंगे अक्षर पुरुष की क्या स्थिति है निरंजन कहां तक है ब्रह्मा विष्णु में इसकी कहां स्थिति है आप फिर देख लेना और योगियों की आपकी किताब दिखाएंगे जो यहाँ के महान योगी हुए वो बताते हैं कि कहाँ कहाँ इस शरीर में हमारे अंदर इन सब देवताओं के वास है तो इस प्रकार ये हमारे को महाराज ने बताया कि एक लाख जीव रोज खासे हो अब आप देखो कितना मारी आ जा और कितना एक्सीडेंट में बस की बस खत्म खड्डे में परिवार के परिवार समाप्त और कहीं पर राजाओं की लड़ाई हो रही है कोई सीमा ऐसी नहीं जिस पर बीस तीस पचास सौ आदमी रोज ना मर सब राजाओं के ऊपर और बाहर बात नहीं आती या आपस में लड़ाई झगड़े घर में हो रही से कोई बीमारी से मर रहा है कहीं भूचाल आ जाता है कहीं पर कुछ हो जाता है एक लाख जीव तपस्ला पर भून कई काल खावस अब एक भाई ने प्रश्न किया उसी ने जो गुरु भगत से बात कर रहा था नो बोला वो और बात का तो चलती साची मान ला पर जीव तामर तो बताओ सी मरदाय को नहीं फिर खावा क्यों करे खान वाली बात नहीं समझना देखो तेरी बात तो मानू साची पर यह दस दिन इन्हों को चूसो इसका भी कि मैं समाधान बता तो कहने लगा वो गुरु भगत भाई बात सुन जिस प्रकार उस तपत छला पर जीव कति भुन्य जाते हैं एक लाख जीव गिर दिए जा और वहां ये खूब नो ताए जा से जैसे पानी की त्रिया बहुत बुरा हाल हो जा सके वासना निकाली जाती होक्का पीड़ी शराब मांस तमाकू दुराचार जिन्हें कर रखा है वो वासना उस तपत शिला के ऊपर जो निरंजन लोक में जहां ये आकार में बैठा है वहां पर उनको भून के उन्मत वासना काट के जब यो आनंद ले से जैसे हम बकरे की कलेजी काट के खाओ से कई भाई जो कहे बहुत आनंद आओ कलेजी में बकरे नहीं खाते सारे ने इतनी खा ले तो इस प्रकार वो वहां भूनता है उन जीवों में से वासना काट लेता जीव मरता नहीं जैसे सोने को सुनार खोट काटने के लिए बहुत गर्म कर दे पानी की तरिया हो जा से और खोट न्यारा काट लेगा बार करते ही वो उसाए सोना फेर पत्थर हो जाए धातु लोहे जैसा करड़ा हो जाता है सोना खत्म नहीं हुआ फिर उसके नाना भूषण बना देता है गहने बना दे है इसी प्रकार उन जीवों का वहां मरते नहीं वो उनमें से वासना काट ले से बार बगा वह जीव के जीव और फिर उनका लेखा जोखा धर्मराय करे बाकी दुख उड़े रह गए ये सच्चाई है अगर ऐसा ना होता तो हमने के जरूर से यहां बच्चे पैदा कर कर इनको ऊपर हो रहे न मत मर जा फिर बस की बात नहीं और फिर शांति फिर ने सोचा और सुख होगा अग और हो लेगा इतने के मन के में और फिर भी हम यहां मजबूर करें क्या तो कबीर साहब कहने लगे जिस प्रकार कसाई बकरे पाड़ा करे इस काल में हमने पाल रखे ना ब्रह्मा का दोष ना विष्णु का दोष ना शंकर का मजबूर से बेचारे और इनकी ड्यूटी जो दे रखी है पूरी करने से इनके साथ हमने प्रेम करना है इनका नाम जपना है इनको आदर देना ये हमारे पालक से अब जैसे जेल में जेलर होता है अब हम सब कैदी हैं जो मृतमंडल के अंदर देवता ताई लोग के देवताओं तक कैदी निरंजन के हैं कहते हैं कि जिस प्रकार जेल में जेलर होता है जेलर के साथ और उसके छोटे जेलर और उसके छोटे अधिकारी से हम बनाकर रखेंगे तो वहां जेल के अंदर सुविधा पूरी में लगी उनके आचरण को देख कर बाहर खेता में भेज देगा खुली हवा में घूम लोगे काम जरूर से परंतु वो कोठड़ी तो चोखा से जो कति फिट कर रखे और जो बनाकर नहीं रखते ठीक आचरण नहीं रखते उनको को, कैद कोठड़ी में बंद कर दिए जाते हैं और जो अच्छी तरह उनसे मेल रखते हैं उनके कानून में चलते हैं तो जेल जेलर की के कसूर से वो कैद में आए अपने कर्मानुसार आ रहे हैं फिर जेलर पे क्यों काली भाई वो तो दो रोटी समय पर उपलब्ध करवा रहा है वो बस्तर दिवस है वस्त्र दिवस है दवाई दुआन लाग रहा तुम उसके लिए क्यों खसो पर जेलर ने प्रधानमंत्री मत मानियो ये न्यो कैसे जेलर तुमने मुक्त नहीं कर सकता कदे न्यो बाट देखो तुमने वो जेल तो नहीं छोड़ देगा कति नहीं छोड़ेगा हाँ पर इससे बिगाड़ना भी नहीं बिगाड़े पास और ज्यादा दुखी हो गए तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि तीनों देवा जल में बसे ब्रह्मा विष्णु महेश और प्रथम इनकी वंदना पर सुन सतगुरु उपदेश इनको आदर दो इनका नाम लो इनकी मर्यादा में रहो गीता अनुसार चलो वेदों अनुसार रहो लेकिन अपने ईश परमात्मा सतपुरुष को मत भूलो पूरे गुरु तो ये ज्ञान सुन लो <clears throat> इनका आदर जैसे पतिव्रता होती है देवर जेठ जेठानी तय और देवरानी तय और देवरों से सास और ससुर से बहुत उसका जो यथोचित उसको आदर देती है ननन से प्यार करती है देवर से लाड करती है बेटे के रूप में और अपने पति में जो भाव से पर देवर जेठ में नहीं हो सकता जो भाव अपने पति से होगा वो उनसे नहीं हो सकता तो वह पति बरता और अपने पति की होकर और दूसरा गिल गाड़म गाड़ा खुंडे बजावर गाड़ी दे सासू नंद जठानिया तो वह पति बरता नहीं है तो हम यहाँ पति बरता की तरह रहना से अपने इस सतपुरुष कबीर साहब की आराधना करनी पर ये अपने साथी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये दुश्मन नहीं है कई कई ने गाड़ दें से ऐसे पंथ अपने अमराध उसमें गए धन धन सतगुरु में तो एक दोस्त था उसका एस था हमारे यहाँ उसका जीजा वो बोला मेरा जीजा आ रहा था हम चले गए अम बताने लगे राम और कृष्ण ने बोला राम कृष्ण तो सोच रहे बांध रहे सामना राम का इनका भी नाम लो सो तुम बोला सतलो कड़ा का नाम लिया कर और वो ती, तीनों नाम गलत उनके कोई सा भी कबीर साहब ने नहीं कर रखा कि बजन थे कोई मुक्ति पाया वास्ते तो ये गलत है हमने तो कीड़ी ते लेकर हाथी ताई छोटे मजदूर ते लेकर राजा ताई एक नजर से आदर से देखना है और सबको प्रिय समझना से किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ना किसी को तुच्छ जानना तो ये तो तीन लोग के भगवान जो सारी व्यवस्था करे तो इनका हमने नाम जपना से आदर करना से लेकिन इष्ट रूप में अपने कबीर साहब का नाम जपना है तब जैसे ही पतिव्रता हो और न्यारे हो ना जब पहला वामन माने देवरा तो बहुत अच्छी तरह लाड करती है प्यार करती है अपने बच्चे समझ कर और सासू सुसर जेठ को भी पूरा आदर देती है लेकिन जब न्यारी होगी ना उन तक कति मोह नहीं करती अपने पति का नहीं जा बैठेगी तुड़क देसी और पूरी लड़ाई कर दे मानो हमारा थोड़ा सामान दिया तुमने और उससे पहले वह इतनी अच्छी लगे थी जानू या गुड़मिल रही परिवार में हमने इस तरह यहां रहना है कि जब हम अलग होंगे अपने इष्ट पर टुड़क दे अपने इष्ट के दाम खेमे हम जा बैठांगे हम इस तीन लोग हम नहीं रहेंगे तो इस प्रकार हमने इनका अनादर भी नहीं करना ये अपने साथी हैं कबीर साहब ने बताया कि ये तीन भगवान के करें से हाँ जेलर तुमने मुक्त नहीं करेगा कदे नो बात इसी प्रकार ये तीनों देवता में सुख दे देंगे स्वर्ग दे देंगे स्वर्ग यू है जैसे कोठड़ी मत काट के खिता में भेज दिया रूख चला बैठ लिए दो घड़ी पानी पी लियो वहां पर इतना सुख से बाकी जेड़ मुक्त जेलर नहीं करेगा इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु में सबने काल से मुक्त नहीं करवा सकते हाँ यहाँ रहेंगे इतने भाई इनके आचरण में वेद अनुसार गीता अनुसार शास्त्र अनुसार हम आचरण करेंगे तो यहाँ सुखी रहेंगे मुक्त केवल बंदी छोड़ कर सके है राष्ट्रपति के पास पावर है फांसी की सजा को भी मुक्त कर सकता है और किसी के पास नहीं ये परमात्मा बंदी छोड़ के पास की ये पावर है कि ये हमें पार कर सकता अब हम आपको ये दिखाते हैं अब आप देख रहे हो सामने अभी जो भी आपने सुना था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन उसकी डार और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार तो ये आप जो चित्र देख रहे मनुष्य आकार में ये निरंजन भगवान ज्योत स्वरूपी परमात्मा ब्रह्म का आप चित्र देख रहे हैं ये आकार में अपने लोक में है और एक निराकार स्वरूप में इसी रूप में ये पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाये हुए हैं और इसमें सभी देवता गण और सब कुछ इसमें है आप देख रहे हो कि ये जो शरीर है ये निरंजन का रूप है नारायण रूप है ये जो हमने धारण कर रखा है तो इसमें अभी आपको फिर ये भी सुनावांगे कबीर साहब का एक शब्द है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है सब कुछ बता रखा बदली छोड़ने दाना दाना गिन रखे फिर वीरदास जी महाराज की ब्रह्म वेदी आपको सुनावांगे कि ये परमात्मा थे जो योगी भी नहीं जानते उन बातों का गरीबदास जी ने हमें भेद दे रखा कि इस शरीर में हमारे अंदर क्या क्या दाना दाना गिन रखा नाड़ी नाड़ी गिन रखी गरीबदास जी ने इसलिए गणी के कदे तो को नो ना सोचा ये तड़पट जाट था इसने के जाना योग वेदा के बारे में योग के बारे में ये जानकारी इसलिए देनी पड़ी कि कल आने वाले जीव नो ना सोचा कि अनपढ़ जाट था कदे वो बटा गया किसी ने अब जब इसकी वाणी हम पढ़ते हैं योगियों की मिलाते हैं तो ज्यो की क्यों पाती है तो ये मानना पड़ेगा ये परमात्मा थे और सर्वज्ञ थे सर्व सर्वशक्तिमान थे सब चीज को जानने वाले थे अब आप समझ जाओगे ये सबसे ऊपर आप देख रहे हो सबसे ऊपर जो है ये सतलोक जिसमें अमरलोक भी कहते हैं ये सतलोक भी कहते हैं ये पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष बंदी छोड़ कबीर साहब का धाम है ये बहुत लंबा विस्तृत है यहां तो वैसे बोर्ड के अभाव से समय स्थान के अभाव से हमने इसको ले रखा है ये सतपुरुष दूसरे मायनों में सतपुरुष और निर्गुण रूप में पूर्ण ब्रह्म और आकार रूप में सतपुरुष अमरलोक सतलोक से कहते हैं इसके बाद है पारब्रह्म जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं ये अक्षर पुरुष तो यहां इसको पारब्रह्म भी कहते हैं और अविगत पुरुष भी इसे कहते हैं अक्षर पुरुष भी इसी को कहते हैं जो पारब्रह्म शक्ति है इस अक्षर पुरुष से नीचे जो है अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन उसकी डाल और तीन देवा शाखा है यो उपात रूप संसार पर जड़ फेंकी रहेगी पेड़ है तो नीचे तो चालक है और ऊपर दो जैसे सामने टहनी बन रही थी इस वृक्ष की लेकिन जड़ फिर भी रहेगी जड़ खुद बंदी छोड़ सतपुरुष है जहां से ये सारी शक्ति संचरित हो रही है जड़ तो ऊपर जा सब कुछ पर जा से तनेमा कह यहां तनेमा आती है ये भगवान अक्षर पुरुष जो है सतपुरुष की जाप करता है अक्षर पुरुष से बाघ आगे फिर निरंजन दोष है ज्योत निरंजन पूर्ण पार का ध्यान धरता है और पार से निरंजन का ध्यान धरते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तो गोरखनाथ जी को कबीर साहब ने कहा था तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा कि तेरा ब्रह्म भी मुझे याद करता है <clears throat> तो यह बने आप आपको सामने आ जाएगी सब शास्त्र इसमें मिलते जा रहे हैं आपको कति आपत्ति नहीं होगी अगर विश्वास करोगे तो नहीं तो सुलझे हुए ज्ञान में उलझे रहोगे हम निंदा नहीं करते किसी भी शास्त्र की बंदी छोड़ना कहीं निंदा नहीं करी पर डीसी को डीसी कहना प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहना मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहना ये निंदा नहीं होती अनजान व्यक्ति नु कह सकते हैं कि हमारे साहब ने बिसराव सयो डीसी कह छोटा सा अफसर नहीं <clears throat> प्रधानमंत्री मान रहा तो उसकी गलती है काली नहीं माना है तो ये पारब्रह्म इसके बाद ये जो पूरा चित्र आप देख रहे हो मनुष्य का ये निरंजन का है इसमें सबसे नीचे से शुरू होंगे वैसे तो सात और लोग नीचे हैं वो हमने नहीं दिखाए वो नरक बताते हैं इसमें लिख भी रखा है लेकिन हमने वहां से शुरू किया है जो हमें आवश्यक है ये मूल कमल है गरीबदास महाराज की ब्रह्म वेदी में आप पढ़ते हो कि ज्ञान जागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाधानी सत सुकृत दुख भंजनम कहते मूल चक्कर गणेश वासा ये मूल चक्कर है इसका दान से लो ये गणेश जी का चित्र आ जाना चाहिए नजदीक आ जाओ हाँ? है हाँ, नीचे जाप भी है इसका इसका किलियम जाप है आप देख रहे हो कि अब ये पूर्ण रूप से जानकारी होगी जब बात होगी ये नीचे आप देख रहे हो ये महाराज के मूल कमल गणेश वासा रक्त वर्ण लाल वर्ण ता जानिए और किलियम जाप कुलीन तजबई शब्द हमारा मानिए बंदी छोड़ देवदास जी कहते हैं कि सब बुराइयां त्याग के और गणेश जी के मूल चक्र में जो गुदा से पास जो हड्डी है रीढ़ की इसके अंदर की तरफ है ये वैसे दिखाने ऊपर पड़ रहे हैं पर है ये भीतर है ये जो मूल कमल है ये गुदा रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है इसे दो उंगल की ऊपर पर अरे रीढ़ की हड्डी के अंदरली तरफ में एक आंतड़ी सी बनी हुई है जिसकी चार पत्ती सी है कमल के फूल के सी और उसके कलियम किलियम जात का अभ्यास गुरु से लेकर करने से उसमें वो पति फूल जाती है पहले तो मुरझारी साहब कुछ ऊपर तला पड़ी सही है नाम के जात का ये खिल जाती है खिलते ही जो गणेश जी के लोक में जो कार्य हो रहा था इसमें दृष्टि गोचर हो जाता है जिस प्रकार टेलीविजन जिस चैनल पर लगा दिया जा अगर टेलीविजन ठीक करवा रहा रखा से तो वो चैनल न पकड़कर उस चैनल के कार्यक्रम को आपको दिखा देता है इसी प्रकार ये हमारा जो लोक तो कहीं और से पर इस शरीर के अंदर ये चैनल परमात्मा ने ला कर भेज रखे से कि इन नाम के जापते चैनल ठीक हो जाएगा और ये आपको ये कमल खिल जाता है नाम के प्रभाव योगी खिलाते हैं योग अभ्यास और संत खिलाते हैं मंत्र ते तो हम मंत्र का सहारा लेंगे तो पार पड़ेगी योगी हम नहीं बन सकते हम गृहस्थी हैं गरीबदास जी भी बच्चे थे छह संतान थी चार लड़के दो लड़की और वो कह मन ये सारे खोले इस मंत्र के प्रभाव का तो हम जब उन योगियां को रजाएंगे जो दस दस वर्ष तक बैठ कर गुफा में भक्ति करते हैं तो कोई उम्मीद ना रखियो कि आप उनसे कुछ पा सकते हो कारण ये कि इतनी साधना आप नहीं कर सकते और ना उपलब्धि हो सकती <clears throat> फिर दोबारा दूसरा आता है सवाद चक्र ब्रह्मादि वासा जहां सावित्री ब्रह्मार है ओम जाप जपल तहसा ज्ञान योग सतगुरु कहें कि एक मौखिक मानसिक जाप आपने ओम का करना होगा गुरु से लेकर पूरे तक जो नुमाइंदा हो इष्टों का पूरे मतलब पूर्ण ब्रह्म के गुरु के पास ये शक्ति है वो इनके भी नाम दे सकता है तो ये सावित्री और ब्रह्मा जी और कहते ओम नाम जप्या कर हंसा ज्ञान योग बल रंग है स्वाद चक्र जी बासा धा सावित्री ब्रह्मा है ओम जाप जपन हंसा ज्ञान योग सतगुरु का है फिर कहते हैं कि ना भी कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संघ बास है ये विष्णु जी और साथ में लक्ष्मी माता जी ये इनके साथ है हाँ वहां थोड़ा सा प्रकरण में छोड़ गया था कि जब उसने माई ने कहा था उन बच्चों को तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को कि मेरे साथ शादी करो और तीनों मेरे से सृष्टि करो ग्रस्त करो तो शंकर देव तीनों भाई हाथ जोड़ बोले हे माई सा जुलम माता पत्नी पुत्र की होई ए, जननी कहा ये अगध होई हम इस पाप न की दोहांगे उन्हें सोचे यार नो नहीं मानते तने बोले तुम सागर मंथन करो सागर मंथन कहे तो अपने तीन रूप बना के इस माई ने एक सावित्री का रूप धरा जो ब्रह्मा को के साथ ला दी दूसरा रखा जो कि विष्णु जी के साथ लक्ष्मी रूप में और तीसरी शंकर जी के साथ एक आत्मा तीन रूप बनाकर गौरी या पार्वती कहो वो माई इसके साथ लगा दी भवानी तो इस प्रकार कहते हैं स्वाद चक्र ब्रह्मा नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहाँ लक्ष्मी संगवास है हरियम जाप जप भंसा जानत गरला दास है कि कोई एकादय जाने से मंत्रा जो हम आपको बता रहे फिर कहते हैं कि हृदय कमल महादेव देवम जहाँ सती पार्वती संग है और सोहम जाप जपन धन भी ज्ञान योग भल रंग है फिर कहते कंठ कमल में बस है अभी ज्ञान ध्यान बुद्ध नाश ही और लील चक्र मध काल कर्म आवत दम को फांस ही ये महाराज कहते हैं ये जो माया से या सब बुद्धि को भ्रष्ट करती है आपकी को ये कंठ कमल में और इसके जो है नीचे वाले कमल की जो गणेश जी का कमल है इसके चार पत्ते हैं कमल के फिर ब्रह्मा जी के छह छह पंखड़ी हैं ये लिखी हुई यहां पर ये स्वाद चक्र ब्रह्मा सावरी जी ओम जाप और छह पंखड़ी ये मूल कमल है देव गणेश जी और किलियम जाप और इसकी चार पंखड़ी लाल रंग है आ गई है अच्छा आगे देखो अब हृदय कमल में नाभि कमल में विष्णु जी नाभि कमल यहां दो नाभि कमल विष्णु और लक्ष्मी जी हरियम जाप है और इसकी आठ पंखड़ी है इस कमल में फिर हृदय कमल में शिव पार्वती जी शिव पार्वती जी और सोहम जाप है और बारह पंखड़ी है इस कमल के बारह पंखड़ी आगे अच्छा फिर है कंठ कमल में अविद्या आदि माया अष्टंगी कुछ भी कहो श्रीयम जाप है और इसकी सोलह पंखड़ी इसके बाद ये यहां ये यहां पर तिरकुटी है जो कि दोनों भावों के बीच में एक यहां नहीं है ऊपरली तरफ ये है अंदर की तरफ पर दिखाना यहां पड़ता है वो त्रिकुटी है जहां से आगे जाकर के हमने फिर त्रिवेणी की तरफ चलते हैं इसके बाद फिर ये सहसरार कमल है योगी तो त्रिकुटी से सीधे सहसरार कमल की तरफ जाते हैं और उस ज्योति के दर्शन को करने की कोशिश करते हैं वो भी बहुत नहीं कर पाते कोई एकाध को दर्शन हुए हैं जिसमें मारकंडे जैसे ऋषि बताए हैं इसमें एक हजार पतिया है ये सहसरार कमल एक हजार पंख का पंखड़ी का कमल है एक हजार पत्ते से इसके और ब्रह्म इसको कहते हैं ब्रह्म बोलो मतलब बच्चों ये ब्रह्म और ज्योत निरंजन भी इसे संतों ने कहा और बंदी छोड़ कबीर साहब ने इसे काल कहा क्योंकि ये हर जीव को खाता है कोई कहते हैं समय को काल कहते हैं हाँ समय पर खा ले है यो समय भी ला लो और काल भी ला लो दोनों चीज है और बिना समय भी खा ले इसके पास सारे हथियार से फिर हम उसको समय समझ रहे हैं कि इसका समय आ रहा था काल आ रहा था <clears throat> इसके ऊपर आप देख रहे हो कि फिर ये एक अंड है ये बंद बंद कर रखा अंडे के रूप में ये निरंजन ने 21 ब्रह्मंड को चारों तरफ से बंद करके और यहां आया हुआ है लेकर के अब इस निरंजन का पार भी ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पा पाए हैं तो ऊपर कहां जा पाओगे ऐसा सतगुरु महाराज कहते हैं योगी कैसे जा सकते हैं इसके बाद इस निरंजन ने एक झूठा ऊपर के लोगों का नकली यहां पर नकल चला रखी है जैसे अभी ऊपर बतावांगे उससे पहले हम ज्योत निरंजन ने नकली लोग यहां बना रखे से जो कि ऊपर असली है इन पता था कि कबीर साहब ने समय समय पर आकर इन लोगों का जिक्र किया इन्होंने नकली लोग यहाँ बना दिए कोई आंख नहीं लगती जैसे विश्वामित्र ने तप किया था उसने कहा था कि मेरी बात को नहीं स्वीकार करोगे तो मैं अपना स्वर्ग अलग बना लेता हूं और तैयारी कर ली थी विष्णु जी ने भी कह दिया था कि बना ले गायु पर उसकी शर्त मंजूर कर ली जब उसने टाल कर दी तो ये निरंजन का जो चाहे सो कर ले यो इक्कीस ब्रह्मंड का भगवान से ब्रह्म है तो इन्होंने एक नकली बना रखी है कि ये देखिएगा ये सतपुरुष सतलोक बना रखा नकली अपना ये देखिएगा ये सतलोक है इससे ऊपर है अलखलोक अलख लोक अलख लोक अलग पुरुष का राज्य है और इससे ऊपर है अगम लोक और इसके इससे ऊपर जो है नकली अनामी लोक कहो इसको अके लोक भी कहते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता और यही ऊपर सतपुरुष ने बता रखा कबीर साहब ने कि अक्सर पुरुष ऊपर से हुआ अक्षर से ऊपर से सतलोक है फिर ये अलख लोक है इधर देखिएगा ये अलख लोक है और फिर वो प्रेम लिख रखा वो अगम लोक है और उसके बाद फिर अनामी लोक जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसको अवर्णनीय और जिसका कोई नाम नहीं रखा जा सकता उस लोक का नाम अनामी लोक है अभी आप सुन रहे देख रहे थे कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज ने ये सब वर्णन दिया है अपनी वाणी में आपको ब्रह्म वेदी दोबारा सुना रहे हैं जिसमें आपको पूर्ण रूप से जानकारी होगी कि अपने बंदी छोड़ गरीबदास जी आना कितनी जानकारी यानी पूर्ण परमात्मा गरीबदास जी महाराज से जो कि योगी भी जिस ज्ञान को बड़ी मुश्किल से जान पाए होंगे वो बंदी छोड़ने स्वाभाविक बता रखा है ब्रह्म वेदी सुनाते हैं जहां तक आवश्यक है ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत्सुकृत दुख भंजनम मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जहां जानिए रक्त कहते हैं लाल और किलियम जाप कुलीन तद सब शब्द हमारा मानिए स्वाद चक्र ब्रह्मादि बासा जहां सावत्री ब्रह्मा रहे ओम जाप जपन धनसा ज्ञान योग सतगुरु कहें नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संग बास है हरियम जाप जपन धनसा जानत बिरला दास है हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग भल रंग है कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्ध नास ही लील चक्र मध काल कर्मम आवत दम को फांस ही के नील कंठ कमल में अविद्या है आदि माया है जो इसका स्थान है जिसमें अब आपने कहा कि हृदय कमल महादेव देवस्ती पार्ती संघ है सोहम जाप जपन मनसा ज्ञान योग बल रंग है उसमें बारह कमल हैं हृदय कमल में बारह पंखड़ी है कमल की और जो कि जो कंठ कमल है उसमें सोलह पंखड़ी है आगे फिर बताया कि त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुरु समर्थ आप है मन पवना समसंद मेलो सुरत नृत्य का जाप त्रिकुटी एक प्रकार की समझ लो सभी देवताओं की जहां भी दर्शन आप शुरू करना चाहते हो त्रिकुटी से शुरू होते वो राजदूत भवन है कि सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जहां जानिए के लिए हम जाप कुलीन तज सब शब्द हमारा मानिए स्वाद चक्र ब्रह्मादि बासा जहां सावित्री ब्रह्मार हैं ओम जाप जपन धन सा ज्ञान योग सतुरु कहे नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संग वास है हरियम जाप जपन धन सा कोई जानत बिरला दास है हृदय कमल महादेव देव सती पार्वती संग है सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग बल रंग है कंठ कमल में बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुध नाश ही लील चक्र काल कर्मम आवत दम को फांसी अब कंठ कमल से ऊपर जिसमें सोलह पंखड़ी का कमल है उससे ऊपर त्रिकुटी कमल है जो भवों के बीच में बताया है पिछली तरफ ना पर यहां उंगली लानी पड़े कई तनों के हाड़ से अंदर की तरफ है एक नाड़ी सी जाती है तिरकुटी एक ऐसा स्थान है जैसे सब विदेशों का राजभवन होते हैं उसमें से हरेक के वहां से संपर्क हो सके तो कहते तिरकुटी कमल परमहंस पूर्ण सतगुर समर्थ आप है वहां बंदी छोड़ भी उस त्रिकुटी में और मन पवना संत सिंध में लो सम सिंध में लो सुरत नृत्य का जाप है मन पवन यानी सांस से सुमरण मन उस पर लाक है और नाम उसको जपता हुआ सुरत नृत्य के साथ जाप करते हैं फिर उससे ऊपर सहस कमल दल आप साहिब जो फूलन मद गंध है ये जगदीश इस 21 ब्रह्मंड तक का परमात्मा एक तो ईश और ईश से ऊपर जगदीश जो सारी सृष्टि का मालिक जो है वो जगदीश यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की जो शक्ति है उसको निरंजन कहा है अब कहते हैं कि सहस कमल दल आप साहब सहस कहते हैं एक हजार कमल की पंखड़ियां वाला कमल जो फूलन मत गंध है निराकार रूप में जैसे फूलों के अंदर सुगंध होती है और पूर्व रहा जगदीश योगी सत समृथ निर्बंध है 21 ब्रह्मंड तई में ये समृथ है यानी पूर्ण फुल फ्लैज का आग्रह जिसने जिस प्रकार डीसी जिले में और मुख्यमंत्री राज्य में समर्थ होता है पर राज्यतबार मुख्यमंत्री समर्थ नहीं है तो ये जहां तक इनकी पहुंच है तो तीन लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु में समर्थ है इक्कीस ब्रह्मांड तक ये ज्योत निरंजन ये समर्थ है पर इस ऊपर शंख कमल का एक सेंस यानी शंख नील पदम शंख पंखड़िया का कमल और से जिसमें खुद बंदी छोड़ सतलोक के मालिक सतपुरुष रहते हैं जो सारी जितनी भी यहाँ की शक्तियां वहां से अपनी शक्ति लेते हैं वहां से अपना आसरा तक रखा है जैसे जड़ से सारे पत्तों में डाली में टहने में सब में खुराक जाती है अब कहते हैं हमको पाने की के विधि है कि मिनी खोज हनोज हरदम उल्ट पंथ की बाट है जैसे मछली नीचे तर ऊपर चढ़ती चढ़ती मनमानत छह जगह से पानी नो गिरता गिरता आ रहा वह घूमती घूमती आखिर में पहुंच जाती मिन्नी खोज यानी तड़े तो शुरू करो ऊपर न चालो योगी करते हैं मूल कमल से और संत करते हैं त्रिकुटी कमल से नीचे आड़ा न कति छोड़ दे जिस प्रकार दो तरीके एक तो पपील मार्ग से पपील कहते हैं कीड़ी ने नीचे तो चढ़ी इस खंबे पैकर ऊपर पहुंच गई शिखर में <clears throat> या उस वृक्ष के जड़ नीचे से चली और पत्तिया पर पहुंच गई और एक विहंगम मार्ग कहते हैं पक्षी यहां से उड़ा और ऊपर जा बैठा तो संत एक विहंगम चाल होती है संतों के पास नाम की कृपा से सुरत चलती है तो फिर कहते हैं कि जैसे अब योग वर्णन कर रहे हैं तो उसी ढंग से चल रहे हैं मीनी खोज हनोज हरदम उल्ट पंथ की बाट है इला पिंगला सुषमण खोजो चल हंसा ओगट घाट एक प्राणायाम विधि करनी पड़ती है जो कि फिर ऊपर ने चलना पड़ता है अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि जब माया से ज्योत निरंजन ने पूछा था कि मैं कैसे सफल होऊंगा अमर कैसे होऊंगा तो उन्होंने बताई थी कि एक प्राणायाम करके अपनी समाधि लाया कर है और समाधि में ज्यादा देर रहा कर तो आप अमर हो जाओगे यानी ज्यादा समय तक अमर तो नहीं हो सकते अपने उम्र बढ़ा सकते हो तो प्राणायाम की विधि ऐसे बताई है एक ना आ, इस कांत है इस कई प्रकार की होती है प्राणायाम वैसे इस ओड़ी से मतलब ये हो ना बाई इसे इलांग इंगला कहते हैं बाई को ऐसे सांस खींचा अंदर ने और फिर इसे छोड़ दिया फिर इसी से वापस लिया बीच में रोक लिया उसको कुंभक कहते हैं गढ़े की तरिया भर ले फिर इसमें से छोड़ दे ये एक प्राणायाम पूरा हुआ वैसे हैं कई प्रकार के प्राणायाम लिखे इसमें योग विधि में तो यहां पर प्राणायाम विधि ये लिख रखी है एक आंख अंगूठे से दबा लिया फिर आंगली से दबा लिया अंदर काट दिया उल्टा ले लिया ये प्राणायाम विधि कहते हैं बंदी छोड़ने जो योगिया ने कर, करी होंगी न बिना करें बता दी के अंदर ये ये व्यवस्था है ये सतगुरु पूर्ण परमात्मा से गुरुदास ये प्रणाम कहते हैं इसको तो महाराज कहते हैं इला पिंगला सुष्मन मिनी खोज हरोज हरदम उल्ट पंथ की बाट है इला पिंगला सुष्मन खोजो चल हंसा ओगट गाट है फिर क्या होता कि सुष्मन एक नाड़ी है वो यहां से चलकर फिर नीचे आवा नाभी में और नाभी को खोलती हुई फिर कमलों के द्वारा आकर त्रिकुटी में पहुंचती है अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि हम सीधे त्रिकुटी से ध्यान लगाते हैं और ऊपर को चल पड़ते हैं अब कहें ऐसा जोग विजोग वर्णो जो शंकर ने चित धरा कुंभक रेचक द्वादश पलटा भी काल कर्म तिस्ते डरा कि जिस प्रकार शंकर भगवान ज्यादातर समाधि में रहते हैं और अपना रिच कुंभ करके सांस को छोटा कर रहे अब इनसे काल और कर्म दोनों डरते हैं कैसे कि कर्म बैठ गए समाधि में कम बने से और फिर उम्र बढ़ गई सांस रोकन की अवधि कर ली लेकिन आखिर में इनको भी इनकी भी मौत आवेगी उस समय ज्यादा समय तक ये रह सकता है अंत काल छोड़ता नहीं तो यहां कहा कि सुन सिंहासन अमर आसन अलग पुरुष निर्वाण है अब अलग पुरुष ये आप बंदी छोड़ महाराज गरीबदास जी कृत श्री ग्रंथ साहब से महाराज की ब्रह्म वेदी सुन रहे हो का के सुन सिंहासन अमर आसन अलख पुरुष निर्वाण है अति लोलीन बेदीन मालिक का दर को कुर्बान है अब अलख पुरुष यहां निरंजन को भी कहा अलख वो जो लख्या नहीं जा जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पा सकते उसको अलख पुरुष कहते हैं आपने नाथ परंपरा के संत सुने होंगे अलख निरंजन तो ये ज्योत निरंजन बहुत बड़ी शक्ति है किस ब्रह्मंड की जैसे मुख्यमंत्री होता है इससे ऊपर फिर एक अवगत पुरुष है जिसको अक्सर पुरुष भी कहा जैसे अभी आपने चित्र में देखा था है नरसंद अबंध अवगत कोटि बैकुंठ नख रूप है अपरंपार दीदार दर्शन ऐसा अजब अनूप है अक्सर पुरुष के पास अवगत पुरुष के पास करोड़ों स्वर्ग हैं जो कि यहां इस तीन लोक से भी अच्छे जो स्वर्ग हैं इक्कीस ब्रह्मंड से भी अच्छे जो वहां की करोड़ों स्वर्ग हैं और कबीर साहब का जो सतलोक है वो संख स्वर्गों से भी अच्छा है गुरे निशान अखंड ध्वनि सुन सो हम बेदी गाइये बाजनाद अगाध अग झाले मन ठहराइये इनके ऊपर महाराज कहते हैं घुरे निशान झंडे फरके हैं अखंड धुन सुन सो हम बाजी बेदी गाइये यानी इस नाम के जाप से आप फिर ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर तथा वहां पर जहां पर शब्द की धुन हो रही है वहां मन न लाइए बाजे नाद अगाध अग है जहां मन ले ठहराइए सुरत निरत मन पवन पलटे बंक नाल सम कीजिए सम माने सीधी बंक नाल एक तो बंक नाल इस निरंजन यानी पिंड के अंदर है एक बंक नाल इससे ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है इक्कीस ब्रह्मंड से ऊपर का जो सतलोकता जान की बंक नाल वो अलग है तीन लोग के शास्त्र वेद पुराण और जितने भी योगी हुए हैं केवल पिंड तक का ज्ञान है आगे का नहीं ये महाराज अभी बताएंगे आपको कबीर साहब का एक शब्द के पिंड ब्रह्मंड से आगे सो देश हमार है न्यारा स्वरत नृत मन पावन पलट बंक नाल सम कीजिए सर में फूल असूल अस्थिर अमी महर्ष पीजिए सतपुरी में रूडंड खोजो मन मन सागे राखिए उड़ है भवर आकाश गमनम पांच पच्चीसों नाखी मेरदंड ये यहीं से मेरदंड इसी के साथ से अंदरली तरफ से कमल जैसे सर्प होता ना अंदर से थोथी होती है सांकड़ी सी उसकी <coughs> को मेरा हुआ देखा हो लेकिन उसके अंदरले हिस्सा बहुत प्लेन हो है अंदर से थोथी होती इसी प्रकार यह रीढ़ की हड्डी है इसमें बहुत गणे जगह जगह पर गांठ सी बनी हुई इसको मेरुदंड कहते हैं सप्तपुरी मेरुदंड खोजो सप्तपुरी जहां पर ध्रुव आदि रहते हैं इस मेरुदंड के द्वारा जाकर के सप्तपुरी ये सातों कमल है मूल कमल स्वाद कमल नाभि कमल हृदय कंठ और त्रिकुटी तथा सहसरार कमल तो सप्तपुरी रूडन खोजो मन मनसा गए राखिए है भवर आकाश गमनम पांच पच्चीसों नाखिए पांच पचीसो पांच ये है पांच तत्व और पांच प्रकीर्ति इनको महाराज कहें जब हम अच्छे जाप करेंगे तो ये पांच पचीसों जैसे कहते हैं ना एक महाराज की वाणी आती है कि ये यही शरीर आपका तेज पुंज का हो जाता है पांच पच्चीसों से प्रभावी होकर जो अंदर एक शरीर होता है नौ तत्व का वो पांच वो इस पांच पच्चीसों से परे हो जाता है इन पांच पच्चीसों को नाखिए नाम के प्रभाव ये तो कहते हैं योगी इस प्रकार अपनी साधना करके इन प्रकृतियों को अपने को दबाने की कोशिश करते हैं और संतों का मार्ग फिर आगे बताऊंगा गगनमंड की गगनमंडल की सैल कर ले बहुर ऐसा दाव है चल हंसा पर लोक पठाऊं भव सागर नहीं आवे अब कहते हैं कि योगियों को बता रहे हैं कि कदे कौन सोचा सतगुरु महाराज ने बेरा नहीं था योग मार्ग का ये योग बता रहे हैं कि ऐसे भी हम आपको त्रिकुटी तक भेजेंगे और त्रिकुटी परलोक का मतलब है कि विष्णु लोक भी परलोक है शंकर जी का लोक भी परलोक है और शंकर ब्रह्मा जी का लोक भी परलोक है निरंजन का लोक भी परलोक है और सतगुरु का लोक भी परलोक विदेश सारे हैं चकित्ता जालो अपने स्वदेश न छोड़कर जहां जाओगे सब विदेश होते कंदरप जीत उदित योगी सटकर्मी यो खेल है अनबे मालन हार गुंद सुरत नृत का मेल है कंदरप जीत ब्रह्मचारी जिसने अपने इंद्री को साध रखा हो और उदित योगी उदित वो होते हैं जो कहते हैं ना ये भाई इस उर्द हो जाते हैं उसको उदित बोलते हैं सठ कर्मी वो खेल है छह प्रकार के कर्म होते न्यौड़ी बस्ती धोती ये अभी आपको सुनावेंगे और दिखाओगे कैसे होती इस प्रकार के छह कर्म करके यानी पहले नेती करो धोती करो पानी पी कर काटो फिर एक कपड़ा सा खाओ फिर उसने काटो फिर अनिमा करो और फिर आप भक्ति करने लागो जब तेरी प्रकृति ठीक डटेंगी अब इतना पंगा पा कर नो कहे ये योगी करते हैं और सतगुरु वही बता रहे फिर हम कहें हम जो रास्ता बताओगे कुछ अलग होगा अनभय मालन हार गुंदय सुरत नृत का मेल है सोहन जाप अजाप थरपो थरपे तिरकुटी संजम धुन लगे मान सरोवर नहान हंसा गंग सहसमुख जीत बगे जीत बगे है कालंदरी कुर्बान कादर अविगत मूर्त खूब है छतर श्वेत विशाल लोचन गलिया गलताना महबूब है दिल अंदर दीदार दर्शन बाहर अंत ना जाइए काया माया कांबापुरी की तन मन शीश चढ़ाइए अवगत आद जुगाद योगी सतपुरुष लोलीन है गगन मंडल तान गैबी जात अजात बेदीन है अब अपनी ऊपरली के बारे में बता रहे हैं सतगुरु महाराज के इन में मत उलझ के रह जाना योगी आज्ञा के चक्कर में ये सिर्फ आपको सहसरार कमल तक का भेद योगी देते हैं इनसे ऊपर चलना है सुख सागर रत्नागर निर्भय बिनमुख बाणी गावही बिन अकार अजोक निर्मल दष्ट मुष्टि आवही झलमिल नूर जहूर ज्योति कोट पद्म उजियार है उल्ट नैन बेसुन बिस्तर जहां तहां दीदार है अब कहते हैं कि अष्ट कमल दल सकल रमता त्रिकुट कमल मद निरख ही सवेत दौदासन गुम्मट आगे पत्र झंगे डंडे फड़क फरके हैं अब सतगुरु महाराज कबीर साहब का जो रास्ता बताते हैं कि अष्ट कमल दल सकल रमता एक अष्ट कमल दल और से आगे कुंज कमल पार करके उससे ऊपर पहुंचना होता है वहां अष्ट कमल है जो भौर गुफा से पहले आवास वहां पर पारब्रम का लोक है और पारब्रम पार करके भौर गुफा फिर उसके बाद सतलोक आ जाता है तो महाराज कहते हैं सुन मंडल सतलोक चलिए फिर नौदर मुंद बेसून्य है नौदर जैसे ये नौ द्वारे बताए आंख कान मुख और ये गुदा इस प्रकार के सारे नौ के नौ बंद करके दसवा खोल दसवा एक तो योगी खोलते हैं एक संत अपनी सहज समाधि से खोल लेते सुरमंडल सतलोक के लिए नौ दर यानी दरवाजे मूंद भी है बिन चश्मियों एक बिंब देखा बिन सर्वण सुनी धुनी है कानों से नहीं सुनी जाती वो अंदर एक और व्यवस्था है जिससे हम वो चीज सुनते हैं चरण कमल में हंस रहते बहुरंगी वरियाम है सूक्ष्म मूर्ति श्याम सूरती अचल अभंगी राम है अचल अभंगी राम राम तो ब्रह्मा जी भी हैं राम विष्णु जी भी हैं गणेश जी भी हैं माता भी है और शंकर जी भी हैं और नरेंजन भी राम है पर एक अचल अभंगी यानी अविनाशी परमात्मा सतपुरुष है चरण कमल में हंस रहते बहुरंगी वरियाम है सूक्ष्म मूर्ति श्याम सूर्ति अचल अभंगी राम है नौ सुर बंध निसंख्य लो दसवें दुर्मुख मूल है मारिन कूप अनूप सजनी बिन बेली का फूल है श्वास उसास पवन को पलटे नाग फनी को भूचे और सुरत नृत्य का बांध बेड़ा फिर गगन मंडल को कोच है अब ये योग विधि बताते हैं कि योगी क्या करते हैं कि एक नाभ भी जो है नाभ भी की नली जो जाती है कमल में और उसके बीच में बारीक सी नाड़ी है उस नाड़ी को एक नाग के सी और नाड़ी है उसने उसके तीन लपेटे ला रखे हैं और उस नाड़ी को जैसे पाइप का धागा बांध दे पानी इधर का इधर इधर का इधर रह जा न्यो कर रखा है उसको खोलते हैं योगी अपनी प्राणायाम विधि से सांस छोटा करके वो सांस से खड़ी है और जब वो सांस कम नहीं जाता अंदर ने तो वह मुड़ जाती है और ढीली हो जाती है तो फिर योगी उसमें प्रवेश करके उसको पार कर जाते अब महाराज कहते हैं ये हमारा रास्ता नहीं है ये योगियां का बता रहे हैं आपको और वह नागण जो है ऊपर ने मुंह कर रहे राक्षस ऐसे और ऊपर से जो अमृत आता है एक नाड़ी बहुत बारीक आवास है सफेद सी और वो आकर उसकी नाड़ी इसके ऊपर नो टपके जास अमृत इस शरीर में से हम्म, जो कर पशु में दूध बने इसी प्रकार एक अमृत भी इसी में से बनता है और उस अमृत को वो पीती रहती है शरीर में नहीं जान देती इसलिए भूख और प्यास और सब सताती रहे और जब इसको मार लेते हैं तो भूख प्यास कम हो जाती है और शरीर में कांति यानी बहुत तेज आ जाता है यहां बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि श्वास कुशास पवन को पलटे नाग फणी उसको नाग फणी नाग केसी फण है उसका को भूच है यानी उसको निचेन करना है और सुरत नृत का फिर बांध बेड़ा गगन मंडल को कूच है फिर ऊपर न चलना पान अब कहते हैं सुन ले योग वियोग हंसा भाई शब्द महल को सिद्ध करो और यो है गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवित ही जग में मरो अब महाराज कहें इसने भी छोड़ दे तेरे बस का नहीं है अब शब्द महल को सिद्ध करो सुरत और शब्द का अभ्यास कीजिए सुरत और शब्द का जब अभ्यास हो जाएगा शब्द महल को सिद्ध करो और सुन ले योग वियोग हंसा शरद महल को सिद्ध करो यो है गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी तुम जीवित ही जग मरो जीवित मरना विकार छोड़ दे काम क्रोध मोलो अहंकार बीडी शराब मास्तमा काम क्रोध मोल अहंकार तो बहुत वारी छूटेंगे परंतु ये पांच और तीन चार जो हमने ला रखे ना बीडी पीना मांस खाना सुल्फा पीना फीम पीना खाना और वही शराब मांस ये इन विकारों ने तो छोड़ दे और फिर अंदर जो वस्तु है वो हम बताओ उस नाम के जाप्त पाले जिस सिद्धि को पाने के लिए तपस्वी तप करते हैं गरीबदास जी महाराज कहते कि हमारे इस शब्द महल में सिद्ध चौबीसा और हंस बिछोड़ है विश्वे बीसा देख कितनी गहराई में ले जाएंगे बंदी छोड़ के शब्द महल में सिद्धि चौबीस ये कहते हैं शब्द महल को सिद्ध करो योग गुरु ज्ञान सुन ले योग वियोग हंसा शब्द महल को सिद्ध करो फिर कहें इस शब्द महल में सिद्ध चौबीसा सिद्धि चौबीस आ जाएंगी कौन कौन सी एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई एक सिद्धि जल पैर न लाई एक सिद्धि तन हंस नियारा एक सिद्धि नितत विचारा एक सिद्धि कुछ खावे ना पीवे एक सिद्धि बहु जुग जीवे ऐसी ऐसी चौबीस हम आपको सुनाएंगे इसमें लिख रहा बंदी छोड़ की वाणी में तो कहते हैं इन चौबीसा को ना मन चावे सो हंसा शब्द अतीत कहा यानी हम तो एक सिद्धि पाकर और उसी के खेल दिखाकर और दुनिया को रिझा कर और चले जाते ना अपनी मुक्ति और ना आपके न्यायों की और सतगुरु महाराज के तीन इसी ऐसी चौबीस सिद्धि आ जाएंगे तेरे को इसे एक नाम के जापते <clears throat> आज हम आपको बताएं हमारे आम बच्चे जो भगत सिंह जो चौ चार साल तो भक्ति करते आ रहे हैं ना वह भी किसी ने यू कह देंगे ना जात्रा यू काम हो जाएगा गारंटीड हो जाएगा परंतु मैं ये इनको सलाह देता हूं कभी भी किसी का अपने मुख से नो कहोगे थारी कमाई खत्म हो जाएगी कभी नहीं कहो अपने मुख से अर्जुन लाग गया करो सोच लो डूबन लाग लिया एक भगत जी अड़े आ रहा उन्होंने बोला मन ने एक मैच की मैच दूध ना दे थी उसका आगे मंत्र बोल दिया दूध दे दिया अगले दिन छह दिन बीमार रहा मकाई बाग है स्वाद है तो टाला रहन दिया करो तुम इन कड़े के दूध दुआओगे यानी जिसके पास जैसी मेरे कथोरिटी दी परमात्मा हमारे गुरु जी ने तो हमने कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उन एक बार अर्ज करने की आवश्यकता है बंदी छोड़ आप कर दे तो बोला मैं बैठा तेरे सिर पे अपने ऊपर नहीं ले जिस दिन तने नो कह दिया कि मैं कर रहा हूं उस दिन बेड़ा बेटे गरक बेड़ा तरा कहते मैं मैं करे सो मार ही और तू तू करे सो छूट बे इस मार में होशियार क्यों गदा बने के ऊंट बे क्यों राजी हो मैंने न्यू कर दिया मैंने उड़ा दू फलाने नो कह दिया उसका छोरा ठीक हो गया के दे रहे छोरा तो अपनी काम बना जब तेरे को शक्ति गुरु से आशीर्वाद मिल जाएगा तो वैसे होने लाग जाएंगे काम अपनी कमाई न मत खोए अरे और क्या करा कर जा लंडी की हो जाएगा वो दो चार आगे किसी की मैच ठीक हो जाए किसी बाकी फिर कुछ नहीं होना कोई से का भी दोनों खाली तो भाव सतगुरु का ये कहने का है कि अपने जो विधि से चलो नियम से चलो आपकी उभारा होगा ठीक है हमारे उपदेशियों में इतनी कमाई हो जाएगी कि बहुत कुछ हो सकता परंतु बिगड़ने भी शुरू हो जाएगी तो यहाँ सतगुरु महाराज कहते हैं कि सुन ले योग विजोग हंसा शब्द महल को सिद्ध करो योग गुरु विज्ञान योग गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी जीवत ही जगमम उज्ज्वल हिरांबर सवेत भौरा सफेद भौरा अक्षय वृषत बाघ है जीतो काल विशाल सोम तरतीजन वराग सवेत और भौरा त्रिकुटी कमलक में एक त्रिकुटी से थोड़ा सा चलते ही उसी का कमल है और उसके सफेद और काला दो रंग है सफेद और भौरा भौरा हो सा काला और सफेद सफेद कई बार बंग भौर भी कहा उसको बगला हो सा दौड़ा और भौरा हो सा काला उसके दो रंग के पत्ते हैं त्रिकुटी के जो फूल के उज्जवल हिरमर श्वेत भौरा अक्षय बाघ है जीतो काल विशाल सोहम तरती जन वैराग सोहम नाम पर तरती जन वैराग नीम से जपना होगा सोम के बाद क्या उससे फिर आगे क्या इस प्रकार चलोगे तो निरे सोहम तभी काम नहीं चले मनसा नारी करपनहारी खाखी मंजा मालिया भाई कुंभ काया बाग लगा फूले हैं फूल विशालिया कच्छ मचकूरम दौलम से सैंस फुन गावे ही नारद मुनि से रटे दिन पर ब्रह्मा पार न पावे ये सारे रटे हैं तो भी उस सत्पुरुष की झलक नहीं है निरंजनताएं की भी झलक नहीं है इनको शंभु जोग विजोग साजा अब शंकर भगवान ने विजोग साजा अचल अडग समाधि है पर अवगत की गत ना जानी वो लीला अगमगाद है यानी अविगत पारब्रम की भी ज्ञान नहीं है इनको शंकर भगवान को फिर कहते हैं कि सनकादिक और सिद्ध चौरासी ध्यान धरते हैं ताश का चौबीसों अवतार जपत है परमहंस प्रकाश का परमहंस या निरंजन है निरंजन के प्रकाश का ध्यान धर रहे हैं पर वस्तु नहीं मिल पा रही सैसठासी और तेतीसो सूरज चंद चिराग है धर अंबर धरणी धर रटते अविगत अचल विहाग है स्वर्णर मुनिजन सिद्ध और साधक पार ब्रह्म को रटत है आ गया ना वही पर ये सब कोशिश पर पार ब्रह्म की कर रहे हैं और घर घर मंगला चौर चौरी ज्ञान योग जहां बटते हैं चित्रगुप्त धर्मराय गांव आदि माया ओंकार है कोट सरस्वती लाभ करते ऐसा ब्रह्म दरबार है निरंजन का एक ब्रह्म एक लोक है ब्रह्म लोक उस ब्रह्म लोक में निराकार रूप में उस निरंजन का प्रकाश है और जो ये योगी जन उस ब्रह्म लोक में चले जाते हैं कुछ समय के लिए और फिर वापस आते हैं कि वहां पर कितनी जगमग बताई कि ऐसा ब्रह्म दरबार है कोट सरस्वती चित्रगुप्त धर्मराय गांव है आदि माया ओंकार है और कोट सरस्वती एक सरस्वती की जो आवाज है जो ब्रह्मा की पुत्री है <clears throat> इतनी सुरीली आवाज है कि इस पृथ्वी पर किसी की नहीं और इसी इसी करोड़ सरस्वतियां जैसी वहां पर ब्रह्म के लोक में शब्द गा रही है और उनके आनंद वहां पर वो योगीजन जो कि यहाँ पर मर पड़ के योग साधना करके गए वो आनंद ले रहे हैं जैसे आज पैसे आला सेठ और न्यू स्टार होटल में चला जा दिल्ली अपनी गोश्त खाएगा उन्हें मीठी मीठी आवाज बाजी दी होगी बाजा है बताया कर जानिए कि मीठी मीठी वहां टन टन बड़े जोर कभी गाने आ रहे हैं कभी कुछ हो रहा है और जेब कटा अपनी धनों का योगी जन उसमें जाके स्वर्ग में ब्रह्मलोक में प्रसन्न होते हैं और उनकी उड़ा गोज कट्टे जागी जब हिसाब होगा ना कि इतने दिन रहा भाई तेरा इतना खर्चा हो गया और काट के गोज उल्टी चालता कर देंगे जा मृत लोक में फिर कर ले कुमाई तो ये स्वर्ग और ये ब्रह्म तेगी तो कुमारी सतगुरु महाराज काम धैन कर वृक्ष जाके इंद्र अंसुर भरत है पार्वती कर जो लक्ष्मणी सावित्री शोभा करते कि उस ब्रह्म लोक के अंदर भी सावित्री ब्रह्मा लक्ष्मी कैसी जो देवियां हैं वहां पर क्या कितनी वहां पर शोभा है यानी सुंदरता की प्रतीक है गंधर्व ज्ञानी और मुनि ज्ञानी पांचों तत् खवास है त्रिगुण तीन बौरंग बाजे को जन बिरले दास है दर पर लाद अगाध अग है जनक विदेही जोर है चले विमान निदान बीता धर्म राहे की बंतोर है अब कैसे ठग है काल कल भी बता था जनक विदेही जब जान ला गया बहुत तपस मतलब साधकता अच्छी कमाई करी निरंजन के जाप की रास्ते में मन में न्यू आ गया कि ये की आवाज आवे से आसपास से पूछा तो पता लग गया कि यहाँ एक नरक है उसमें बारह करोड़ जीव दुखी पारिश से तो बोला भाई मैं इनकी कैद छुटवाऊंगा नरक से कैसे छूटा जी धर्मराय जाने धर्मराय बुला लिया वहां आ गया कि इनको छोड़ दे अकाप का जो पुण्य है आपने देना होगा जब मैं छोड़ सकूं अग दे दूंगा तो उड़े झाड़ दिया आदत ज्यादा तो जनक विदेही अग दे दे पुण्य संकल्प कर दिया बारह करोड़ उस नरक मत कटवा दिए और थोड़े दिन पाचा फिर नानक बना के भेज दिया चल और कमाई करके आयो बंदी छोड़ने बोले ये रहट का कुआ लोई रहट यागल बंध्या है सब कोई कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बार करा कितनी चक्कर काट चुके हैं ये ऋषि लोग फिर कहा के चले विमान निदान बीता धर्म राय की बन तोड़ है गोरख दत्त जुगाद जोगी नाम जलंधर लीजिए भर्तरी गोपी चंदा सीजे ऐसी दीक्षा दीजिए कि अपने शिष्या के इतनी गजब जचा दे जिस प्रकार गोपी चंद्र भर्तरी का जचगी के भक्ति बिना काम नहीं चला रात भी छोड़ दिया तो आप ऐसी दीक्षा दीजिए किसी ने समझाओ तो ऐसे ढंग से समझा देना कि राम नाम बिना काम नहीं चलेगा सतगुरु के बिना सुल्तानी बाजीद फरीदा सुल्तानी अब्राहिम सुल्तान अदम जैसे अभी आपको सुनाया था वो कथा एक राजा था वो सुल्तानी भी कहते हैं उसको सुल्तानी बाजीद फरीदा पीपा पर चापाया शेख फरीद बाजीद भी एक संत हुए हैं जो मुसलमान थे और राजा थे